गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन जितने भी हम जीव हैं अपने कर्म से ज्यादा हम तीन ताप से ज्यादा दुखी हैं और तीन ताप जब हट जाते हैं तो हम केवल कर्म भोग भोगेंगे वो कम भोगने होते हैं जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर एक पीली पीली बेल डाल दी जाती है वह उसको सुखा दे से उसके अंश में खेचे जा सकते वो तीन ताप के अंतर्गत है और उसने वृक्ष ने अपना जो सुख दुख है वो तो जैसे हवा चालेगी और भाई गर्मी भी सतावेगी तेज हवा भी चालेगी डाली भी तोड़ देगी को पशु भी खस जाएगा ये दुख तो अलग है परंतु जो तीन ये तो कर्म के दुख से बाकी तीन ताप इस प्रकार हमारे ऊपर है दैहिक दैविक और आध्यात्मिक तो ये है किसी के द्वारा उपरा करवा देना कोई देवता का रुष्ट हो जाना किसी की कढ़ाई ना मिली तो वह माता रूस जा तो इस प्रकार के से ये ज्यादा दुखी होते हैं उनके लिए सतगुरु महाराज के हमारी शरण में आ जाओ हम प्रथम तय इस बेल न तार का बगा जाएंगे वो थारा जो शोषण कर रही है वो खत्म कर देंगे देवी देवता दोष ग्रीब कोई कह वरुण धर्म राय है कोई कहते है ईश सोड़ा कला सुभान गति कोई कहे जगदीश ਗਰੀ मुक्ति ले ਲੈ ਉਤਰੇ मेचन तीनू ताप मुमन के डेरा लिया कह कबीरा बाप गरीब दूध ना पीवे अनभख गरीब दूध न पीवे न अनभख नहीं पालन नहीं पालन झोलनते अधर अमान ध्यान में कमल कला फोलनते के ना तो दूध पीवे और ना को अंत खावे के थे जब छोटे से थे और पांच सात दिन हो गए इस प्रकार मां ने चिंता होगी अकी वो उमरेगा मुश्किल तो परमात्मा ने एक बच्चा दिया अरे यू इसे डंका हो गया ना कि मैं खानदार ना पीनता अरे यू थोड़े दिन में यू मरेगा बैठ कर रोन लागी इमां दौर और के चारा हो से आखिर में वह रोया करे जब ये हालत मां की देखी तो उसमें कहता है कि आप चिंता मत करो मैं मरण वाला को नहीं ना मैं मरता और ना मैं पैदा होता मैं तो अपनी मर्जी से सतलोक से आया हूं और आप चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूंगा पर नींद ची कहते हैं फिर शिवलोक से खुद भगवान शंकर आए एक ब्राह्मण का रूप बना के आकर ने बोले भाई के बात से भगत जी के रोना राणा चल रहा था रे घर में वो माई और साथ में वो भगत जी खड़ा था नीरू कहने लगे जी के बताऊं एक लड़का मिला है से ऐसे अर्जुना तो में खानता ना पीनता रिया रो सब इसकी माँ समझ लो मुंह बोली माँ नो बोला अच्छा अरे मरेगा इस चिंता में बोला शंकर भगवान यू मरण का को ना भाई ये तो बेरा ना कह सकते इसकी हम भी नहीं जानते पर नो कर एक गौ मंगा ले कबीर साहब ने बोले शंकर भगवान जी आते कि महाराज जी एक गऊ मंगा लो और जो नए दूध ना हो रही हो बाछड़ी का दूध पीऊंगा शंकर भगवान ने बोला बजा मोमन नीरू को आगे गऊ बाछड़ी लिया बिना नहीं दूध हो रही और दूध छोड़ रही वह लिया तो शंकर भगवान ने उसका ऊपर हाथ धर दिया और वह दूध देने लागी तड़ा अपना बर्तन अड़ाया बर्तन से पूरा करमंडल भर लिया ना जब कबीर साहब के मुंह का ला दिया चढ़ चढ़ पी गए और बालक और दो किलो पक्का दूध पी गए तो फिर ने बोला कि मोमन चिंता ना करिए आदमी ये तो बहुत बड़ी शक्ति है इसके बराबर अनंत कोट ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है तारे कोई पूर्वले संस्कार थे जो इसी मान शक्ति आपको उपलब्ध हुई गिरव दूध न न अन नहीं पालन झूलंत अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलंते ग्रीब दुनी कह यो देव है देव कहते हैं ईश ईश कह पूर्ण ब्रह्म है ईश कह पर ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीस अब ऊपर देवता देखा करें को पूर्ण अवतार आ जा जब और वह नो कह भाई तब कि मैं विष्णु भगवान का अवतार दिखा है देवते बतला ऊपर में और भगवान विष्णु उड़ा खड़ा बोला ना भाई मेरा तो सह नहीं उगता कि मैं और शोधा दिखा है तो नो कह ईस कह है यो पूर्ण पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीस ये तो पार ब्रह्म दिखा है उन पार ब्रह्म थी का ज्ञान था विष्णु भगवान और और ये है पूर्ण ब्रह्म के अवतार फिर क्या हुआ कि फिर वो आते हैं पंडित जी और साथ में मुसलमान भाई उनका नाम धरण खातिर पहले मुसलमान आते हैं तो आप देखिएगा ये चित्र में एक तरफ तो पंडित जी आए हुए हैं एक तरफ ये इधर तो ये पंडित जी आए हुए हैं महाराज जी का नाम धरण खातिर है एक ही चित्र में दो दिखा रखे पार्ट और इधर ये काजी और मुल्ला आए हुए और उन्होंने अपनी कुरान के अंदर सारा खोल के देखा ऊपर कर्ण भी गरीबदास जी बताते हैं अब जो वाणी गरीबदास है वो सत्य है कई भाइयों का है ना पिछले जन्म में तो ये ब्राह्मण ब्राह्मणी थे रूनी माइब का ये मुसलमान ने पैदा हुए थे अगर ऐसा होता तो ये दोनों नहीं आंदे फिर मुसलमान ना आते नाम दड़ खाते ग्रेब काजी गए पुराने ले धर लड़के का नाम अक्सर अक्सर में फोरा धन कबीर बलिजाम मुसलमान भाई क्या करते हैं कतीब एक कुरान है जैसे अपने वेद हैं ग्रंथ हैं इसको एक मंत्र पढ़ के खोलते हैं जहां से भी खुल जाता है और पहला अक्षर जो तो इधर आ जाएगा जो भी अक्षर गया उसी से उसका नामांकन करते हैं जैसे रह पागा रफी का कह कह पागा कफी का इस प्रकार वो नामांकन करते हैं तो क्या हुआ जो ही उन्होंने कुरान खोला कुरान खोलते ही सारे पेज के ऊपर कबीर कबीर कबीर कबीर कबीर कबीर लिखा हुआ जो लेख उस कुरान में थे वह नहीं रहे अब काजिया ने सोची अच्छा पंगा हुआ आगे देखें उलट कर उसमें भी सारी पर कबीर सारी कुरान देख ली पर सारे कबीर कबीर लिखा हुआ और कोई अक्सर नहीं रहा अर्थात ये चारों युगा में कबीर साहब अपना एक नाम लेकर आए हैं और वही चलेगा सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे द्वापर में करुणा में नाम से आए थे अब कलयुग के अंदर ये कबीर नाम से चलेगा ग्रेब सकल सकल कुरान कबीरे है हरप लिखे जो लेख काशी के काजी कह भाई गई दीन की टेक कि इन्होंने तुम्हारे धर्म को भी बिगाड़ दिया हमारी कुरान को भी खत्म कर दिया ये नाम कबीर तो आखिर में वो कहने लगे कि भाई देखो ये कबीर नाम जो है बहुत पवित्र नाम से और हम इस छोटी जाति के लड़के का कबीर नाम नहीं कर सकते और ये तो कबीर नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है सृष्टि का इसका वेदों में भी आपको प्रमाण देंगे कबीर नाम जो है ये सबसे श्रेष्ठ परमात्मा का नाम है वेद भी गवा देते हैं गवाही इसकी देते हैं और कबीर साहब भी अपने प्रमाण में देते हैं और कुरान और पुराणों में भी सब इस कबीर साहब का वर्णन आपको दिखाएंगे कि कबीर नाम कितना श्रेष्ठ नाम है गृह शिव उतरे शिव पूरी से अवगत बदन हो दे मैं के कमल खुशी भय लिया ईसकू हो दे जब शिव जी आए लड़का दूध नहीं पीवा था तो कहते उस परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी लिया ग्रीब नजर नजर से मिल गई किया इस परिणाम धन मोमन धन पूर्णा धन का सीनी काम जब महाराज की कहते नजर में नजर मिली शंकर भगवान के तो शंकर भगवान ने बोले वह थारे धन है ये काशी नगर भी धन है और ये मात पिता भी इसके धन है जिसका ये परमात्मा ने जन्म दिया वो पांच सात दिन का बच्चा सात बार शंकर भगवान से बातचीत करता है और माता पिता खड़े खड़े देखे गरीब सात बार चर्चा करी बोले बालक बहन शिव को कर मस्तक धरा मोमन एक धैन गरीब अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल अनब्यावर बिना ब्याई हुई पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल अब आगे प्रमाण देते हैं कि एक बहुत बड़े योगी अब एक ज्ञान से आप सारा समझ में इस पर ऐसा प्रकरण है ये एक बहुत बड़े योगी हुए हैं चारों वेदों के ज्ञाता छह शास्त्र अठारह पुराण ग्यारह उपनिष्ठ इनके कंठस्थ याद और पूर्ण रूप से उनके ऊपर आरूढ़ आश्रित स्वामी रामानंद जी काशी के अंदर बहुत विद्वान पंडित हुए उनके समान उनके समय में इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं था ऐसा योगी जो बचपन से बाल ब्रह्मचारी और योगा अनुसार योगी सारे शरीर को जीत रखा था तो अब कबीर साहब का और रामानंद जी का उस योगी के साथ जिस योग साधना से हम लोग ना तीन घंटे बैठकर भगवान पा लेंगे उस योगी को बंदी छोड़ने बताओ है स्वामी जी यू रास्ता तक कति गलत है तेरा अब बताओ जो निन्यानवे साल के थे रामानंद जी जब कबीर साहब आए सतलोक से और जब उनकी चर्चा हुई जब पांच वर्ष के कबीर साहब थे 104 वर्ष के रामानंद जी थे 104 साल के महात्मा और पांच साल के बच्चे थे पहले तक तो किस ढंग से बात करें से और जब नो बेरा पिट गया पता चल गया कि तो परमात्मा है जब उसने वो खुद योगी हाथ जोड़ ले से अक महाराज आपके बराबर शक्ति नहीं कबीर साहब ने बोले कि स्वामी जी आप नो बताओ कहा जाना चाहते हो इस योग साधना ऋण वेदों को और शास्त्रों को पढ़कर रामायण गीता महाभारत को मैं बोला बच्चा स्वर्ग में जाऊंगा अक स्वर्ग में के करोगे उड़ा दूध दा की तो नदी चाल से अच्छा और कल्प वृक्ष है और काम धेनु है के होगा भाई बोला बैठा होगा ना उड़ा बैठते जैसे वृक्ष के नीचे बैठ गया इच्छा कर ली वह चीज आगे आ गई और फिर बोला दूधा की नदी है फिर क्या होगा कि वहां भगवान विष्णु के सामने दर्शन हुआ करेंगे और देखा करूंगा फिर क्या हो जाएगा भगवान कृष्ण यहाँ कई हजार वर्ष रह गए चला गया जब कौन सा मुक्त हो गया उसके दर्शन आते हैं सारे नको बद भाई सारे दोनों जूता पेटे उसते हैं और वहां अगर दर्शन करते भी रहोगे तो कई साल तक रहोगे न्यू और बता दो वो तो बच्चा अपनी कमाई पर निर्भर करता है जितनी मैं यहां से करके ले जाऊंगा उतने दिन तो रहूंगा फिर कहा होगे स्वामी जी अरे फिर यहां आएंगे कर्म क्षेत्र तो यही है फिर ने बोला इसी दुर्गति में क्यों पा दे रहे हो या क्या मुक्ति हुई अगर जरूरी है कि आप इसी इतने साधक हो जाओगे नहीं नहीं ये भी कोई खास ये तो कर्म अनुसार है तो महाराज कहने लगे मैं बताऊं ऐसे करो स्वामी जी नहीं नहीं बच्चा आपकी बात पर मैं कैसे विश्वास करूं मन तो सारी उम्र खो दी फिर बंदी छोड़ आगे बताऊं अब प्रकरण चलता है कि जब रामान कबीर साहब पांच वर्ष के हुए एक शिव पुराण का पाठ कर रहा था एक प्रचारक उसके पास बंदी छोड़ जाते हैं और जाकर वो कह रहा है कि शंकर भगवान सबसे महान है इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई ये पूर्ण ब्रह्म है ये ये पार ब्रह्म है ये सबके रचयिता है ये तीनों देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए अब अगले दिन सुनते हैं महाराज कबीर साहब बताते हैं कि हाँ एक विष्णु पुराण का वर्णन कर रहा था विष्णु पुराण का अभी तो उसमें कहा कि विष्णु भगवान सबके रचयिता हैं और उसी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए उसी से शंकर जी उत्पन्न हुए ये सब उन्हीं की कलाएं हैं तीसरा उन्होंने सुना ब्रह्मा पुराण ब्रह्म पुराण के अंदर बता रखा था कि ब्रह्मा ही सारी सृष्टि के दाता हैं रचयिता हैं ये ब्रह्मा विष्णु विष्णु और शंकर तो इसके अंश हैं तो इस प्रकार कबीर साहब जो रामानंद जी के शिष्य थे उनके साथ गोष्ठी करते हैं कहने लगे भगत स्वामी जी बात ऐसे है आप जो विष्णु पुराण का जो जिक्र कर रहे हो मैंने शंकर पुराण भी शिव पुराण भी सुना था उसमें लिखा हुआ है विष्णु भगवान जो है शंकर भगवान विष्णु भगवान के अंश है और ब्रह्मा जो है विष्णु से उत्पन्न हुआ ये देखो आपके सामने ब्रह्मा जो है नाभि के विष्णु की नाभि से कमल से उत्पत्ति दिखाते हैं और शंकर भगवान नीचे लेटे हुए ये पूरा ले लीजिए नीचे शंकर भगवान लेटे हुए और विष्णु जी अपनी शक्ति उनको प्रदान कर रहे हैं शंकर भगवान को और ये इधर ब्रह्मा जी नाभिक में कमल में अब शंकर पुराण में यह बताया गया कि शंकर भगवान से ही विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई के शंकर भगवान से ही सारी सृष्टि की रचना और विधि बता रखी है तो अब शिव पुराण में ये विष्णु पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान तो इनके अंश है और विष्णु भगवान ही सारा कुछ करता धरता है यही पूर्ण परमात्मा है सारी सृष्टि के रचयिता है और फिर आगे लिखते हैं तीन लोग के भगवान अब इन तीन लोग के भगवान मानना है कि ये सारी सृष्टि के रचयिता माने जो अनंत कोट ब्रह्मंड के तो रामानंद जी का जो शिष्य था उसके सैकड़ों उपदेशक वहां बैठे हुए उनसे बात करी तो उस रामानंद के शिष्य को ऋषि को रामानंद जी वैसे तो शिष्य बनाते नहीं थे उनको बाणा देते थे और पूर्ण रूप से जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था उसको दिया करते तो वो स्वयं जाता है नो बोला जी आप कौन है बच्चा वो पांच साल के और वो जो प्रचार करे वो कम से कम चालीस पैंतालीस पचास साल के तो कौन है बच्चा अक मैं जुल्हाई का लड़का हूं क्या नाम है कबीर है आपने नाम कहां से लिया कि आपने कहां से लिया स्वामी जी कि रामानंद जी का कौन से रामानंद जी अरे रामानंद जी को नहीं जानता यहां काशी के अंदर जिसके बावन दरबार पर चौदह सौ शिष्य बन चुके हैं ऋषि शिष्य ओहो कबीर साहब कहने लगे अरे उन से मैंने ले रखा नाम तो वो शिष्य जो रामानंद का ऋषि था शिष्य वो एकदम ताली पीटा है सुनो भाई सुनो देख झूठ फैल रहा रामानंद जी तो इनकी शक्ल भी ना देखे नीच जाति वाले की और ये कहता मैंने नाम ले रखा ऋषि गुरु जी ने बताऊंगा स्वामी जी को और तेरी शामत आओगी बेटा चल तो यहाँ तो बात क्यों उनकी जवाब तो आया नहीं उनको उल्टा उसके ऊपर होगा अपनी बात टाल गया अब जाकर ऋषि जी ने बताई स्वामी जी तक स्वामी जी ऐसे ऐसे एक चुल्हा तो का लड़का और आपको नो मैं तो आपका शिष्य हूं अब रामानंद जी ने ठाई लाठी मेरा और नीच जाति के मैं दर्शन भी नहीं करता अच्छा उससे पहले जैसे महाराज प्रकट हुए थे ना थोड़ा प्रकरण और दें आपको अभी आपने देखा था ना ऋषि एक तरफ बैठा था जब तालाब के ऊपर ये रामानंद जी का शिष्य था अष्टानंद इसका नाम था अष्टानंद तो अष्टानंद जी ने वो चमत्कार देखा था कि एक आकाश से प्रकाश आया और सारे कमल ए, मतलब उस तालाब के अंदर कमल के फूल जैसे चाहे सुई भी देख ले इतनी रोशनी होगी थी फिर वो प्रकाश एक कोने में सीमित हो गया था सिमट गया उसने आकर अपने गुरु जी बताई स्वामी जी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे मन चमत्कार देखा महाराज ये क्या दृश्य था क्योंकि साधक अपनी उपलब्धि बताते हैं गुरु से कि मन यह चीज देखी के था तो ऋषि जी कहने लगे स्वामी रामदेव रामानंद जी कि ये कोई अवतार आया भाई ऊपर से किसी लोक से अरे थोड़े से दिनामक काशी में अपने खेल करेगा उनको तो तीन लोग के अवतारों का ज्ञान था तो रामानंद जी बड़े अच्छा अब जो प्रकरण चल रहा है उसी को लेते हैं ये तो बीच में बताना था पहले मैं छोड़ गया था तो जाके उसे जो एक और ऋषि जो प्रवचन कर रहा था कबीर साहब ने उनको टोक दिया कि आप तो विष्णु पुराण में विष्णु जी को प्रधानता दे रहे हो कि यही पार ब्रह्म है यही सब कुछ है और थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये तीन लोग का भगवान है अब कोई नवाब को सारी सृष्टि देश का राजा कहे तो हम कैसे मान लेंगे नवाब नवाबी होता है अब कभी तो आप नवाब कहते हो कभी उसको राजा महाराजा कहते हो दोनों काम नहीं हुआ करते या तो तीन लौकिक हो या फिर इनको पूर्ण ब्रह्म शास्त्रों प्रमाणित नहीं है कि ये तीन लोग के हैं प्रमाणित है और आप इनको फिर पार ब्रह्म भी सिद्ध करना चाहते हो तो वो नाराज हो गए थे तो रामानंद जी आपको बताया जी ऐसे ऐसे एक जुलाहे का लड़का आपको अपना शिष्य बताओ है रामानंद जी ने बोले कल उनको बुला के लाना तो कबीर साहब ने क्या किया रामानंद जी 104 साल की उम्र में इतने योगी थे साधक थे अपने आप उठ कर जा जाया करते गंगा के ऊपर मुंह अंधेरा उठे कबीर साहब ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर और वहां लेट जाते और पौड़ियों में जहां घाट पर नहान जाया करते थे उसमें लेट जाते तो रामानंद जी ने अंधेरे में दिखे नहीं और खड़ाऊ लागी शर्म में दो ढाई साल के बच्चे का फिर वो रोते हैं चल्लाते हैं जैसे बच्चा रोया कर रामानंद जी ने सोची कोई बालक का बच्चे के लागी और गोदी ठा लिया ठा के गोदी और महाराज को ने बोला बेटा रो मत ना छाती का ला लिया बेटा रो मत रो मत रो मत किस किस कौन है किसका है महाराज रुक रुके नहीं रोए बुरी तरह सिर पर हाथ फेरा ने बोला बेटा राम राम का है और जो सुमरणी अपने हाथ में ले रहे थे वह नो हाथ ना गबंद दे रहे उस कबीर साहब के गल में गल गई और जो फिर उन्हें रोना बंद कर दिया जब रोना चुप किया ये तस्वीर है इसमें महाराज अपने जा रहे हैं स्वामी जी और कबीर साहब नीचे बच्चे के रूप में लेटे हुए सिर में ठोकर लगती है तो उसी समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं रामानंद जी सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि बेटा रो मत राम राम है वो राम नाम का उपदेश दिया करते थे बाकी साधना अलग बताते थे तो इस प्रकार वो महाराज जी नान लगे कि बेटा तू यहां बैठ मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा नहा के तुझे ले चलूंगा किसी का होगा गांव में शहर में मुनादी करवा के भिजवा देंगे चिंता ना करें बच्चे को वहीं लटा कर नहा लागे वो स्नान कर रहे हैं महाराज वहां से अंतर्ध्यान हुए अपने कुटिया पर अपने कोठड़ी में घर में झोपड़ी में आ गए रामानंद जी ने इधर उधर आवाज दी बच्चा कहां गया बेटा कहां गया पर कहीं नहीं था उन्हें सोची चले गया कित ढूंढो अंधेरे में बालक ने भाई सारा आवाज दे ली नहीं आंदा भी कित ले जाओ उसको भूल कर घर आ जाते अंत वो ऋषि जिसकी बदनामी करी थी बेजती करी थी सभा में वो बेजती मान रहा था पर सच्चाई थी वह वो कहने लगा स्वामी जी उसको लिया बुला के जुलाहे के लड़के को अरे हाँ जा जल्दी कबीर साहब को दो तीन ऋषि गए अकचाल तेरी सहमत आवागी आवेगी तो क्या झूठ बोलता था स्वामी जी से नाम ले रखा है बदनाम करता हमारे गुरु को वो तो नीच जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता ला कर खड़ा कर दिया उससे पहले रामानंद जी नो बोले भाई मैं थोड़ी अपनी दिनचर्या जो रोजाना का होता ना वो साधना करूं इसको उधर ही रखो और पर्दा ला लिया कि तुम तो को मैंने नाम इसको उपदेश दे रखा मैं इसके दर्शन भी नहीं करता नो पर्दा ला के और चारों तरफ से अंदर कोठरी में एक तरफ बैठ जाता है और साधना क्या करते थे रामानंद जी आंखें बंद करके और अंदर एक काल्पनिक चित्र बनाते थे विष्णु भगवान का ठाकुर जी का उनके कपड़े उतार कर गंगा जल से स्नान करवाते लंगोटी छोड़ देते थे और फिर सारे कपड़े बदलते और उनका मुकुट धर देते ये कर्म कांड के अंदर आता है ये आदर भाव से करते हैं वो लोग मुकुट धर दिया यानी संपन्न हो जाती है मुकुट धरने पाछा पूजा संपन्न हो जाती है पर उस जन गलती से माला डालनी भूल गए गले में और माला नहीं डाला कंठी जो होती है तो वह पूजा अधूरी है और मुकुट तार नहीं सकते अब समस्या ये होगी रामानंद जी के मन में कि आज किस मनहूस के दर्शन करे थे कि मैं मेरी पूजा खंडित क्यों हुई इतना विचार कर रहे हैं और ऊपर से माला डालने की कोशिश करें वो मुकुट में फंस जाए अंदर नहीं आंदी अब कबीर साहब बाहर बैठे पांच साल के बच्चे न बोले स्वामी जी और स्वामी जी की न कि गुंडी खोल लो इसकी माड़ा की पाचे या गालने अर्थ तो खोल लो इसको और खोल के नो बांध दो उल्टिए पूजा खंडित ना होगी मुकट नहीं तारना पड़ेगा अब रामानंद जी ने सोची अको तेरा बुलाओ कोई मूर्ति बार नहीं अंदर मैं जो कल्पना कर रहा हूं और वो जो की तुम बच्चा बता रही हो और भी तो मोलट बैठे हैं चौदह सही न कोई सन बिना ज्ञान इस बात का हर ही न गणे दिन हो गए नाम लिए ने तो वो जान गए कि तो भाई बहुत कसूती चीज से कहते उस समय ज्ञान इसका नाम है भगत जी रामानंद ने नहीं सोची कि मैं पंडित और 104 साल का पांच साल का बालक और इतनी सभा में और इस हर मानो ये ज्ञान का परिचय होता है उसने अपना ज्ञान नहीं देखा ना मान देखा परमात्मा खड़ा दिखा उसने सामने जिस रूप में उपासना किया करता विष्णु रूप में बंदी छोड़ के दर्शन हुए अंदर उसने और उसी समय डोडी पर्दा दूर बगा और लीने कंठ लगा गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिला नो बोले जुलाहे दुनिया तो उसने जुलाहा के और फिर उस छोरे ठाक छाती का ला लिया उस रामानंद ने नो कदे बीती तो बहुत अगर दुनिया की कहेगी पर उस समय अपना उसने दुख दिखा के काल नहीं परमात्मा आ रहा बन के कभी आया था वो यानी उसने वो ज्ञान आया छोरे के छाती का लगा लिया और वो खड़े खड़े नोक से उसके चेले कि यू क्यों करा गुरु जी ने कर दिया फिर कहने लगा भाई एक बात तो मान ली आपने जो आपने कही हुआ मैंने बिल्कुल सत्य मान ली और इसके तो कोई भी नहीं तो समझ सकता जो आपने मेरी अंदर की बात को पकड़ लिया तो पर एक बात बता कबीर अखानी तने या झूठ क्यों बोल दी कि मैंने आपसे नाम दे रखा अक नहीं स्वामी जी ये सत है कि कल सवेरे हाँ आज सुबेरे जब आप नहान गए थे अका तो मैं वहां पैड़िया पर लेट गया था और आपकी खड़ाऊ लगी मेरे सिर में और मन ने रो पड़ा आप बोले बेटा राम राम कहा कर अरे यहां माड़ा गाल दी मेरे गल में वह माड़ा काट के दिखा दी और वो अपनी माड़ा उसने सोची तो खोगी होगी अरे वो तो छोटा सा बच्चा था दो ढाई साल का तू इतना बड़ा कहां से आ गया अक नहीं महाराज मैं छोटा है था उड़े बड्डा तो मैं यहां हो गया नो क्योकर हो गया जब ही दूसरा रूप बना के दिखा दिया बंदी छोड़ में अक महाराज देखियो इतना था मैं अब नोन भी खड़े हैं रामानंद जी की कुटिया के खटोले पर एक ढाई साल के बच्चे का रूप बना के फिर लौट जाए अब रामानंद जी छह बज नो देखे हर छह बज नो देखे नो बोले वह ठीक है जो की तुम बात से अब देखो ये तो बड़े रूप में कबीर साहब खड़े हैं क्योंकि पांच साल के लड़के पहले बहुत तगड़े हो जाया करते थे छह सौ वर्ष पहले की बात से पूरे तगड़े बारह साल के का ब्याह कर दिया करते थे और यहां तो महाराज पूर्ण रूप बड़े हैं और ये छोटा सा बच्चे के रूप में ये और लीजिए ये रे ये दो रूप बनाए और ये ऋषि जी खड़े खड़े देखकर और और चेले चुपटे नरे खड़े थे तो इस प्रकार रामानंद जी का भ्रम दूर किया फिर आगे योग विधि बतावे अकलाओ समाधि कहां तक जाओगे इस योग भी देते तो बंदी छोड़ पांच साल के बच्चे 104 साल के योगी को ये समझा रहे हैं अब पहले हम शुरू से करते हैं भक्ति दरावड़ देशे थी यहाँ नहीं एक रंच ओतभूत की धामना पाखंड और परपंच काशी के अंदर इतनी बदमाशी फैला रखी थी अनदान व्यक्तियों ने ऊत भूत की धामना पाखंड और परपंच पर उन तय सब त्रेष्ठ रामानंद जी का पंथ था तो उसमें कहते हैं कि द्रावण देश से आए थे रामानंद जी बाकी यहाँ पर वर्ष लोगों ने असली यथार्थ ज्ञान को वेदों के गम कर गुम कर दिया है वहां उन्होंने अपने बावन दरबार और चार संप्रदाय चला रखी थी कबीर रामानंद जी ने मतलब बहुत श्रेष्ठतम वहां के उस समय के सबसे श्रेष्ठ संत थे ऋषि थे और उनको बंदी छोड़ना पकड़ा बाकी तो आप फेल थे जब वो फेल हो गए थे गृह रामानंद आनंद में काशी नगर मजारे देश दरावड़ छोड़ करे आए पूरी विचारे पूरी कहे नगरी को काशी पूरी विचार के वहां पर आए ताकि वहां चलना चाहिए यही विचार जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पाखंडी लोगों ने पाखंड फैला दिया गृह योग युक्ति प्राणायाम कर जीता सकल शरीर कर्मणी के घाट पर अटक रहे बलबीर अब गिर तीर्थ व्रत एकादशी ही गंगोदक स्नान पूजी पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान अब रामानंद जी रामानंद जी क्या कहते हैं महाराज जी कि द्रावण देश ने छोड़कर काशी में आते हैं और प्राणायाम योग युक्ति जोग यानी साधना से युक्ति कहें साधना योग योग योगियों की तरह योग युक्ति प्राणायाम करें प्राणायाम कहते हैं कि ऐसे बैठकर इस सांस से अंदर खेचे और दूसरे में आगे छोड़ दे और फिर उसको रोककर थोड़ी देर उसको कुंभ कहते हैं फिर इसी से वापस ले और दूसरे माँ का छोड़ दे एक पूर्ण प्राणायाम हो जाता है ये कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं और कई ऐसे होते हैं उनके नाम अलग से खींच लिया फिर छोड़ दिया फिर खींच लिया फिर छोड़ दिया उससे ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो ये से योग विधि अपनी मनमुखी नहीं करनी चाहिए इनसे बात खराब हो सकता शरीर तो महाराज ने कहा कि योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर और ब्रह्मचारी थे बचपन से और नौके त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर आगे जाके तीन रास्ते बन जाए त्रिकुटी दसवा द्वार पार करके तीन रास्ते बन जाते हैं और तीन रास्ते में एक तरफ तो योगी चले जाते हैं वहां वहां कोई नहीं सुनता वहां साधकों को ठा ठा के फटाफट भेज दिया जा विष्णु लोक आया को विष्णु लोक में और दूसरे साधक से जो मनमुखी थोड़े बहुत साधना करे उन्हें ठाक अठासी हजार खेड़े बना रखे वहां भेज दिया और जो सही साधक है वो दसवें दो ब्रह्मरंद्र को पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन महाराज कहे वहां पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं है कहते हैं ब्रह्मरंद्र के द्वार को खोल लेता है कोई एक और द्वारे पे फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक तो यहां महाराज कहे गरीबदास जी गरीब तीर्थ वर्त एक गरीब योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर तिरवेणी के घाट में वह अटक रहे बलवीर ग्रीप तीर्थ व्रत एकादशी तीर्थ भी करा करते व्रत भी करा करते ग्यास के व्रती रहा करते थे एकादशी का और गंगो तक स्नान गंगा में स्नान किया करते यानी जिस तीर्थ को जाने के लिए हम यहां से स्पेशल जाते हैं और व्रत करते हैं और गंगा में स्नान करते ये सारे काम सारी विधि एक योगी भी किया करता जो कबीर साहब का आगे नतमस्तक होया तो इस एक ज्ञानते हम समझदार हैं तो ये बात पकड़ लेनी चाहिए कि इन साधना तय हम पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते जब इसे ऋषि नहीं हो सके अब महाराज कहते हैं कि पांच वर्ष के जद भये कांसी मंद कभी हीरे गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थी हीरे गुल भया कांसी पूरी अटपटे बैन बिहंगे गरीब दास गुणी थके है सुन जल्हा प्रसंग के महाराज की बात में सुनकर वो बुढ़े बुढ़े विद्वान भी चक्कर काट गए गुणी गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग गृह बै गुल भया काशी पूरी अटपट विहंग गरीबदास गुनी थके सुन जुल्हा प्रसंग रामानंद अधिकार है सुन जुल्हा अक जगदीश दास गरीब ना ताही नवा वत्सीश रामानंद को गुरु कह पर तन से नहीं मिलाते दास गरीब दर्श बहे पेड़ लगी जो लात अब बंदी छोड़ कहती है गरीब दास जी के रामानंद अधिकार है सोने जुल्हा अक जगदीश दास गरीब बिलम नहीं ताही नवावशीश के रामानंद ये चक्र सुना के भाई ये भगवान सैक कोई जुल्हा का लड़का है और उसी को नमस्कार करते हैं कबीर साहब रामानंद जी को अपने गुरु गरीब रामानंद को गुरु कह तन से नहीं मिलात गरीब दास दर्श बहे भाई पेड़े लगी जो लात पेड़े पे लोटे लोटे कह शर्म लात लगी तो जब उन्होंने उपदेश दिया कहते हैं पंथ चलत ठोकर लगे हे राम नाम कह दीन दास गरीब कसर नहीं सीख ले ही परवीहीन आडा पड़दा लाए कैरे रामानंद बोजनते दास गरीब कुलंग छवि ही अदर धौर कूदनते शुरू में रामानंद जी ने छो मारा करडी करडी त्रिया और पड़दा ला रहा कि खबरदार तनाज के बाद मेरे को गुरु कहा कैसे कहता है गुरु पर बैठ के मैं थोड़ी साधना कर लू साधना करें पाछा जब भीतर महाराज ने अंदर की बात उसकी बता दी उनके पां पकड़ लेते कौन जात कुन कौन जात कौन जात कौन पंथे है कौन तुम्हारा नाम गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलिजाम अब रामानंद जी पूछते हैं कि तू तो नीच जाति का है और तू मेरे को गुरु कहता है तो बंदी छोड़ते ने बोले तू कौन से कौन तेरी जात है और कहाँ का रहने वाला है तेरा कौन पिता है तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं गरीबदास जी बंदी छोड़ कबीर साहब बोले जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ दास गरीब लिखत पेड़ है मेरा नाम निरंजन कंत अब महाराज ने बोले कबीर साहब कि भाई मैं जगत गुरु तो मेरा हमारी जात से सारी सृष्टि का मैं गुरु और परमेश्वर मेरा पंथ अब परमेश्वर शब्द को सुन जीव आप आपने विद्वानों की भाषण भी सुने होंगे पर हम विद्वान नहीं है हमने अंतकरण को खोजा अपने को जो खोजना चाहिए था और जब जिसने अंतकरण खोज लिया वो सहस्त्रात्तर श्लोक जाकर उसमें घनी नहीं लग दी आट उनका लगा जिसने अंतकरण नहीं देख रखा अपनी साधना नहीं कर रखी उसका आगे एक एक अक्षर अड़ता चला जाता है परमेश्वर किसे कहते हैं हमने ये शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश देखा इसमें स्वामी कहते हैं दानंद जी महर्षि दानंद जी कि परमात्मा जो से निराकार है उसका कोई आकार नहीं वो ब्रह्म रूप में है और एक परमात्मा अनेक परमात्मा नहीं होया करते वो कोई आकार में नहीं आता आप विचार करिए ईश ईश कहते हैं भगवान को ईश ईश बहुत है ईश और ईश्वर उस भगवान का भी भगवान वर माने पति मालिक ईश्वर ईश्वर यानी ईश्वर का ईश्वर भगवान का भगवान ईश्वर संधि छेद कीजिए आप ईश जमा में वर ईश्वर जगदीश कहो जगत का भगवान और जगदीश्वर कहो उस जगदीश के भी परमात्मा यानी दो भगवान तो हो गए ना ये खुद स्वामी एक तरफ तो कहते हैं ब्रह्म एक है उसका कोई दूसरा भगवान नहीं है और खुद आप लिखते हैं हे परमेश्वर ये सत्यार प्रकाश आपको दिखाऊंगा और ये श्याम यजुर्वेद खोल रखा स्वामी जी ने वो भी आप देख लीजिए पढ़ लीजिए उसमें लिख रहा क्या है परमेश्वर तू सबका चेतन है सब तेरे से काम चली हुई है सब जीवों का आधार है परमेश्वर कहा हुआ जब एक परमात्मा है तो ईस बतेरा था ईस जमा में वर ईश्वर फिर जमा में परमेश्वर यानी परम उससे भी श्रेष्ठ ईश्वर से भी श्रेष्ठ तीन परमात्मा तो एक अक्षर में सिद्ध हो जाते हैं परमेश्वर में और फिर यूं कहें कि ब्रह्म तो एक ही है ये गरीबदास जी महाराज के वो सत्य कबीर साहब जो कहते हैं ईश है ब्रह्म ईश्वर है पार ब्रह्म और परमेश्वर है पूर्ण ब्रह्म अब ब्रह्म तक का ज्ञान वेद दे और ब्रह्म तक का ज्ञान तीन तीन लोग के शास्त्र से भी देते हैं उपनिष्ठ ले लो छह शास्त्र लो अब महाराज कहते हैं फिर परमेश्वर कहां से हो गया तो इस प्रकार हमने सुना सुना था स्टोरी कहानियां सुन ली और उस पर आश्रित हो गए कहा भगवान कोई शक्ति हो से तो एक ही ऋषि के एक ही संत की अपनी हमने किसी से को क्रिटिसाइज नहीं करना ना हमारे बंदी छोड़ने किया और ना हम तो कर ही नहीं सकते किसी उस ज्ञान के पुर्जे पड़े हैं जैसे एक इंजन खुला हुआ है और पुर्जे रखे हैं इब कोई तो एक क्वेश्चन कह ऐसे कोई उसमें नहीं का ज्ञान तो है सारा पर जोड़ेंगे कितिए जब तक ये सारे ज्ञान को जोड़ नहीं लाएंगे इतना वो काम नहीं बने तो इन्होंने इस ग्रंथ साहब में इन खुले खाले प्रजा ने सारे का जोड़ रखा कि यू प्रजा यहां फिटोस है अब कोई तेन को पहिए ना यू सटेरन से इसी आकृति हो से इस आकार हो सर घूमे से अब सटेरन ने पहिया कैसे तो वो कहे जाओ और भी हाँ भर लेंगे उसकी जिन्हें नहीं बेरा और जिसने ज्ञान उन्होंने कहा बेरा यू तैसे पहिया और यू सटेरन और हो से इस डाल का पहिए का इंजन नहीं होता इंजन में कुछ और चीज होती यानी इन्होंने सब वेदों को शास्त्रों को खोलकर इस ढंग से जोड़ रखा से इस ग्रंथ साहब नहीं करी इन्होंने किसी की यथार्थ बात बताई तो यहाँ क्या है जात हमारी जगत गुरु हो परमेश्वर है पंथ मेरा रास्ता परमेश्वर का है परमेश्वर माने पूर्ण ब्रह्म का ब्रह्म तक वेद शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं परब्रह्म का ज्ञान नहीं है अक्सर जरूर याद है कि कोई पूर्व परब्रह्म शक्ति है और इष्ट ऊपर पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान सतगुरु महाराज देते हैं इन सबसे ऊपर किस जहां तक वेद ज्ञान दें उसको सत माना वेदों को बंदी छोड़ना गलत नहीं माना बाकी सरलार्थकर्ताओं ने भाषा भाष्य करने वालों ने अपने हिसाब से इनका भावार्थ बनाया उसके ऊपर आपत्ति की जा सकती है क्योंकि एक एक ही दोहे को तीन महर्षि खोले और आपस में नहीं मिलता उनका सरलार्थ मिल सके पर भावार्थ नहीं मिलता भावार्थ का ही रोड़ा सारा उन्होंने उसको निर्गुण ही सिद्ध कर दिया और ऐसे भी जय शंकराचार्य ने किया उसको निर्गुण और सरगुण दोनों को माना है ब्रह्म को कि ब्रह्म से उत्पत्ति सारी मानते ये भी ब्रह्म ये सारा जीव भी ब्रह्म से ही है तो सरगुण निर्गुण दोनों रूप में ब्रह्म है आकार में भी हर निराकार में भी जात हमारी जगत गुरु हो परमेश्वर है पंथ दास गरीब लिखत पर है मेरा नाम निरंजन कंत निरंजन ब्रह्म ज्योत निरंजन ये ब्रह्म तक की उपलब्धियां हैं ब्रह्म तक के नाम हैं तो कहते हैं मैं निरंजन कंत या निरंजन हूं निरंजन को तो ये बहुत ऊंची शक्ति मानते हैं यहाँ वाले महर्षि जो कह रहे थे रामानंद जी रो बालक चूल्हे का छोरा और इतनी ऊंची बात कहते ना शर्म नहीं आती दो कौडी का जीव और बन बैठा भगवान बहुत बुरी तरह गाड़ देते हैं मतलब गुस्से हो जाते हैं रामानंद जी रे बालक सुन दुर्बोधी ही गटमट नहीं अकारे दास गरीब दर्द लग्या जब हो बोले हार बड़ा दुख माना रामानंद जी ने कि यू बन बैठा हार अपने आप को नूगा मैं परमात्मा हूं तो फिर महाराज कहते हैं अब उलाने से दिया कर ना तो बिला मोमन का था तो गेलड़ मोमन यानी एक जुलाया तेने तो मुसलमान ठा के लाया और बात बनावे तुम तो भगवान की नो कहे ना गेलड़ फलाना साधो कड़ा देखा है ना आज बनी बैठे तो इस तरह उलाने से दे से रामानंद जी कबीर साहब को तुम मोमन के पालवा तेरा दुल्हे के घर बाश दास गरीब अज्ञान गति ही एता दृढ़ विश्वास मान बड़ाई छोड़ के बोलो बालक बहन दास गरीब अधम मुखी ही एता तुम गुट पहन रे बालक बुद्धि तोर गति ही कूड़ साखना पांडे दास गरीब हदिस कर नहीं लेवेंगे डांडो बंदी छोड़ने और बंदी छोड़ को कहते रामानंद जी कि इसी बोली बोली बात ना कह घनी ऊंची बात मत ना बोला इस आपने जो है ना मान बड़ाई ने छोड़ के तू असली असली बात बता गरीब तलक तलो गरीब तरक तलु से बोलते है रामानंद सुर ने दास गरीब को जात है आखिर नीच निदान छो माँ करने बोले तुम छोटी जाति का और कुजात और तू भगवान बन बैठा और वो भी निरंजन अब कबीर साहब के बोले बड़े अधीन से महके बदन खुलासे कह रे सुन स्वामी परवीन दास गरीब मनी मरे मैं आज आधीन मैं अवगत गत से ही पर और चार वेद से दूरे दास गरीब दसों दशा में सकल संद भरपूरे अब कबीर साहब कहते हैं मैं इस चार वेद से ऊपर हूँ पूर्ण ब्रह्म हूं पर यहां भी व्यापक हूं अब यहां फिर समस्या होगी आपका अब व्यापक किसे कहते हैं हम बिल्कुल साधारण भाषा से आपने कति मोटे मोटे उदाहरण तैयारी सी जता देंगे जो विद्वानों के भी मतलब काबू में आप नहीं आए होंगे कोई तो कहता परमात्मा निराकार रूप में सर जगह व्यापक से उसका कोई आकार नहीं कोई लोक नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कहने से अगर कोई ये कहता है तो ये वेद भी फेल हो जाते हैं और सब उपनिषद भी फेल हो जाते हैं शास्त्र भी फेल हो जाते हैं फेल करने का किसी एक अधिकार एक मनुष्य में अधिकार नहीं है गरीबदास ने किसी शास्त्र को फेल नहीं किया पर उनकी पहुंच बताई कि यहां तक ये बात ठीक है और कोई कहता है कि वो तो आकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है अब इस बात को कई भाई नहीं मानते कि आकार और निराकार क्या शक्ति होती है अब कई मानते हैं कि जैसे विष्णु जी आकार में भी है निराकार रूप में भी वही ब्रह्म है ब्रह्म तो वैसे जीव भी है क्योंकि ब्रह्म का अंश है अब विष्णु भगवान तीन लोग के परमात्मा है और उनकी शक्ति यहां पर व्यापक है विष्णु आकार में भी है और निराकार में भी है किस प्रकार जैसे जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर जी की जो शक्ति है और एसपी की सारे जिले में व्यापक होती है वो वहां पर है नहीं सब जगह पर उसकी सता सब जगह है जिले के कण कण में व्यापक है और वो है अपने या तो कार में होगा का अपनी कोठी में का दफ्तर में यानी तीन स्थाना पर वो रहे यानी कहीं भी और अपने दफ्तर में समझो या घर पे और है यहां भी पर यहां उसकी शक्ति है वो नहीं है और कोई लोग का डिसीज है नहीं उसकी शक्ति शक्ति है तो उसने कति इनकम्प्लीट नॉलेज है पूरा ज्ञान नहीं है अब यहां हम कैसे जैसे अभी कबीर साहब ने कहा मैं भी यहां व्यापक हूं और ब्रह्म भी कहते हैं कि ब्रह्म भी व्यापक है हाँ मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है आकार में भी निराकार रूप में भी इसमें कोई शक नहीं और इसके बाद प्रधानमंत्री भी इस राज्य में भी व्यापक है डीसी के क्षेत्र में भी व्यापक है और अपने और जिलों में भी और राज्यों में भी प्रधानमंत्री व्यापक है उसकी सत्ता व्यापक है और वो है अपने स्थान पर इसी प्रकार अब जैसे कहा कि मैं सर्वव्यापक भी हूं और सतलोक इन चार वेद से बार भी हो यानी पूर्ण ब्रह्म हो और यहां भी व्यापक हो मेरी शक्ति यहां पर भी है जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति यहां भी है और डीसी की भी है और मुख्यमंत्री की भी है तीनों की सतह यहां पर अब जैसे जीरो का बल्लभ चसा हुआ है उसका चांदना हो जाएगा साठ का चार्ज तो उसका कम हो जाएगा पर है उसका भी काम चल रहा साठ आड़े तो ज्यादा फिर मरकरी बल्लभ ला दो तो वो साठ वाला भी कम हो जाएगा वो ज्यादा चांद हर तीनवा का प्रकाश व्यापक है इसी प्रकार दिन निकलने के बाद फिर इन बलवा की कोई वैल्यू नहीं रहती इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान हो जाने से पूर्ण परमात्मा की शरण आ जाने से अब इनकी व्यापकता खत्म नहीं हो सकती तीनों अप अपने स्थान पर जैसे ब्रह्म अपने इक्कीस ब्रह्म तक व्यापक है और ब्रह्म दोष है ये कई ब्रह्मंडा के ऐसे अंड बने हुए हैं उन अंडाओं को मैं सारा व्यापक है और पूर्ण ब्रह्म उन अनंत करोड़ अंड और ब्रह्मंड के ऊपर उनकी प्रभुतार साथ में इनमें भी है ये थोड़ा व्यापकता का हम आपको वर्णन करना चाहेंगे साथ ही साथ जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो मन में कसोटी तो सी बनी रहेगी ये क्या कहा यहां कुछ कहा वहां कुछ कहा ऐसा कुछ नहीं होगा अगर कोई किसी के मन में संख्या रह जाए तो बाद में सत्संग के बाद आप आध पौन घंटा हमारे से लगा सकते हो पर प्रेम से ग्रीब मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूहरे दास गरीब दसों दसा सकल लोक भरपूरे शुक्ल लोक ये तीन लोक से भी बार लोक से हम तीन लोक को भी मानते हैं और अनंत लोक भी सभी शास्त्र प्रमाण दें इन लोग में अनंत लोक में भी भरपूर सू जैसे जिले तो बार जिले में राज्य में तो बारह तेरह जिले होते हैं और प्रधानमंत्री के अंदर तो मेरा ख्याल में सैकड़ों से भी ऊपर जिले हो जाते हैं तो ये लोग समझ लो गरीब सकल संग भरपूर हूँ खाल के हमारा नाम गरीब दास अजात हूँ तू कह जो तू कह बोले जा अब कहते हैं कबीर साहब के महाराज जी मैं तो बहुत मतलब सकल छंद भरपूर हूँ और खालिक मेरा नाम खालिक कह हैं मालिक को परमात्मा को खलक है सृष्टि और खालक सृष्टि का मालिक तो मैं खालक हूं सारी सृष्टि का भगवान सो पर आपने जो कहा वो बलिहारी हूं पर मैं अजात हूं मेरा जात कोई नहीं आपने मुझे जुल्हा कहा कुजात कहा नीच जाति का कहा मैं वैसे तो आपकी मर्जी क्योंकि आप मेरे गुरु हो कुछ भी कह सकते हो पर मैं अजाति हूं मेरी कोई जात नहीं और अर्तें जो कहा मैं बलिजान मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं कुछ भी कहो क्योंकि शेष होने के बाद एक ही बात से हमने छह ज्ञान लेने पड़ते <clears throat> अब शेष हो जाने के बाद गुरु कुछ भी कहे अपने मन में विक्षेप नहीं आन दे वो दास होता है जब हम दास हो जाए जब हमें ज्ञान प्राप्ति हो अब दास का एक प्रकरण बताया कहते हैं एक बार एक राजा अब्राहिम सुल्तान अधम जो कबीर साहब का शिष्य हुआ था <clears throat> वो राजा था बहुत ऐश्वर्य का साधन था उससे एक दिन पूछा किसी भक्त ने जब वो राज छोड़ चुका संत हो चुका था कि महाराज जी दास की परिभाषा क्या है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है अब्राहिम सुल्तान अधम का अक्की बात कि मैं जब राजा था मैंने एक दास मोल लिया था पहले मोल लेते थे इनको तो मैंने उस दास से पूछा वो नु सा हुआ खड़ा कि आपका क्या नाम है वो कहने लगा महाराज दास का कोई नाम नहीं होता मुझे किसी नाम से पुकार लो वही नाम है मुझे ढेड कहो मुझे काला कहो दांतवा कहो मुझे कुछ भी कहो महंगा कहो मैं उसी नाम से आपके आगे खड़ा रहूंगा मेरा कोई उजर नहीं कि आपने न्यू क्यों कह दिया बोला मेरी बात मेरे हृदय में बड़ी कंच हुई है बात फिर कहने लगा आप क्या खाते हो वो पूछे था इस ढंग से कि भी जो खाओ तेरा उपलब्ध करवा क्यों वो बेचारा कई जगह पिटकारा था दास पहले कई जगह रह चुका था उनकी बहुत बदसलूकी हो चुकी थी पीठ भी दिया करते थे उनके बच्चा ने भी कूट देते थे उनके बच्चे जो जिसके पास हो रहता था पर वो बच्चे भी जाकर अपने माता पिता को गुजर करते हैं एक दिन तो वो लड़का जो राजा का था वो और राजा का प्रमाण दिया उसने कि वहां जाकर के उसने सुना कि अपने माँ बाप ने बतावा है और बच्चे के नाराजीकरण खातर माँ बाप भी कह दे बेटा मैं पिटूंगी उसने राजा के लड़के ने तू ना रो है अरोस होना था आकर उस राजा के लड़के ने <clears throat> उसकी मां का भी बुरी तरह लठ मारे और अच्छी तरह पीठ दी गोड्डा गला गेर कर और वो लड़का खड़ा खड़ा देखे माँ तो नहीं थी मैं पीटूंगी और मां पिट रही है फिर रोने लगी बैठ कर बोली कुछ इतना हृदय विदारक दृश्य देख कर वो दास यथार्थ में दास बन गया था तो वो कहने लगा महाराज दास ने की कोई इच्छा नहीं हुआ करती जो दे दे वो खा लो आप जूठा टूक दोगे वो भी खाऊंगा आप कहोगे थाली चाट ले मैं थाली भी चाट लूंगा मेरी कोई इच्छा नहीं है और फिर कहने लगा भाई तू करता क्या है जो आपका हुक्म होगा वही मैं करता हूं तो दास की ये परिभाषा होती है तो यहां महाराज कहते हैं गृह बे सकल सिंध भरपूर है खालक हम सकल सिंध भरपूर हूं खालक हमरा नाम गरीब दास अजाते हूं ते जो क्या बले जाम एक नंदी छड़ आपने जो कहा गुरु जी वो मुझे बलिहारी हूं मैं आपके ज्ञान के ऊपर आपके हुक्म के ऊपर क्यों मैं आपका शिष्य हूं जात पात मेरे नहीं नहीं बस्ती नहीं गांव गरीब दास अनिल गति ही ना कोई हमारा नाम नाद बिंद मेरे नहीं नहीं गुदानी गाते गरीब दास शब्द सजा नहीं किसी का साहते गरीब सुन स्वामी सतभा हूँ झूठ नहीं हमारे रंचे हाँ देख कितनी गहराई की बात की सतगुरु महाराज ने कौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोहरे दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओहरे बोले बंदी छोड़ गई कबीर साहब कि सारी सृष्टि में पानी में हवा में सब जगह में व्यापक हूं शब्द रूप में और मैं सच कहता हूं मेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है पर यकीन कैसे हो अब बताएंगे हम पानी हम पावन हैं हम अग्नि धरण आकाश ग्रीब दास पांच में हम ही शब्द निवास अब यहां प्रमाण दिया सतगुरु महाराज ने कि हे बंदी छोड़ मैं ही पांचों तत्वों के अंदर शब्द रूप में व्यापक हूं अब शब्द कितनी महान शक्ति है ध्यान से सुनिएगा अब पांच तत्व हैं आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी ये पांच तत्व है इनका एक एक गुण है आकाश का गुण है शब्द अब आकाश का इस ज्योत निरंजन ने काल में चारों तरफ से हमारे को बंद कर रखे है ये सारा ब्रह्मांड दोष है एक अंडे की त्रिया बंद है चारों तरफ से आकाश से और इतना मजबूत आकाश का वहां पर आकाश सबसे बड़ी शक्ति है जैसे पवन की शक्ति है आकाश से दूसरे नंबर पर एक 20 पाउंड हवा और दो से मन ट्रक के लोड नगु में ठाए फिर जाएंगे हवा थोड़ी सी उसे और पवन आकाश उससे भी ज्यादा मजबूत होता है जितना सूक्ष्म पता तो चला गया उतना ही ज्यादा मजबूत होता है आकाश की प्रकृति जो है बहुत तगड़ी है तो आकाश जो है शब्द गुण है आकाश का चारों तरफ से बंद कर रखा है अगर चारों तरफ से बंद नहीं होता तो यहां कोई किसी की आवाज नहीं सुन सके था इस चारों तरफ से इतना बंद है कि उसको कति कोई उसमें सुराख नहीं अब हम ऐसे भी करते हैं ना ये भी हम आवाज आ रही है ये उसी की वजह से है जैसे स्पीकर का पर्दा फट जावा तो आवाज नहीं आती फुसर फुसर करके बंद हो जाता है इसी प्रकार चारों तरफ से ब्रह्मंड को इक्कीस ब्रह्मंड तक को इसने बंद कर फिर एक अंड को बंद कर रखा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और हम सब रोक रखे इस निरंजन ने उसके बाद ऐसे ऐसे कई अंड है और पूरे फिर सारा ब्रह्मंड इक्कीस ब्रह्मंड तक भी ऐसे इसने बंद कर रखे तो इस प्रकार ये शब्द गुण है आकाश का दूसरा पवन पवन का गुण है सप्रस जैसे हवा चलेगी तो न्यू पता चलेगा कि इधर से आवे काना का लागी शब्द गुण जैसे सुरसराट जो होता है वो शब्द गुण पवन का नहीं है वो आकाश का है आकाश की वजह से शब्द हो रहा है उसमें अपना गुण से उसमें सप्रस अच्छा ती, तीसरा तत्व है फिर अग्नि अग्नि का अपना गुण है रूप है अब जैसे कोई चीज दिखाई दी तो ये प्रकाश की वजह से दिखा ना हमने दिखा कुछ नहीं तो अग्नि का जो गुण है वो रूप है और बकड़ बकड़ बड़ा आवाज करती है ये शब्द गुण का होता है आकाश का गुण शब्द की वजह से वो बकड़ बकड़ जो शब्द सुन रहे हैं ये आकाश का गुण उसमें साथ विद्यमान होता है और जो आंच लागे से ये सप्रस ये पवन का उसका अपना गुण केवल वो होता है रूप है अब इसमें तीन तीनों गुण आगे शब्द सप्रश और रूप अब है जल जल के अंदर रस है आवाज जैसे ऊपर तक पड़ेगा गदड़ गदड़ की आवाज आवा है बाल्टी में पानी पड़े है तो पानी का तो रस है मीठा खारा जैसे महसूस होता है उसका अपना रूप जो दिखे से वो अग्नि का गुण है और आवाज जो आ रही है वो शब्द का और ठंडा ताता सीढ़ा लाग गया है ये वायु का गुण स्पर्श की वजह है इसमें चार गुण हो गए पांचवा गुण है पृथ्वी का पृथ्वी का गुण रस नहीं है गंध है जैसे डले का पानी घेरोगे उसमें तो मैं आया कर पृथ्वी में जितनी भी फूलों में गंध या किसी चीज में भी है वो पृथ्वी से बनी है तो पृथ्वी का अपना गुण गंध है महक है और उसकी जो जैसे रूप है ये अग्नि का और जो इसको चाट कर देखोगे इसमें रस भी होता है स्वाद बहुत लग गया ये जल का इसमें मिलावट से पृथ्वी का तो हो गया अपना गंध और रस हो गया जल का उसमें स्वाद आवे से और रूप से अग्नि से और उसमें जैसे ऊपर तक पड़े गदा का उठे डड़ा पड़ा भाई ये उस शब्द का और डड़ा लाग जा कित तो सपरस ये वायु का गुण है तो इस प्रकार इन पांचों में शब्द सब में है आकाश का गुण सब में है और आकाश में जो गुण है वो पूर्ण ब्रह्म से है तो महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार इन पांचों तत्वों में शब्द व्यापक है शब्द बिना ये काम नहीं कर सकते कामयाब नहीं है इसी प्रकार इस पांचों तत्वों में जिस प्रकार शब्द है इस प्रकार में सर्वसृष्टि में व्यापक हूं ये गरीबदास महाराज कह रहे हैं कबीर साहब के बारे में इतनी इक्वेशन इतनी गहराई बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जो कि कणपड़ कहा कहते हैं लोग उनको और हम उनको ब्रह्मात्मा मानते पूर्ण ब्रह्म ग्रीव हम पानी हम पावन है हम ही अग्न धरणी आकाश दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास सुन स्वामी सतभाख हूं जोठ न हमारे रंच गरीब दास हम रूप बेने और सकल पर पंचे आवत जात न दीख हूँ रहता सकल समी पे गरीब दास जल तरंग हूँ हम ही सायर सीह पे गरीब चार योग में हम पोकारे कोक कहा हम हे लरे हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता डेल रे दास जी महाराज कहते हैं कि हम चारों युगों में आकर बताया कि भाई हम जो रास्ता बताओ यू ठीक से पूर्ण ब्रह्म की उपासना से आपको सर्वलाभ मिलेंगे अच्छा फिर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हम कहें इस तरह करके देखो पांच छह महीने आपको जो लाभ आज तक किसी भी उपासना तक ना होया हो और वो आपने हो जाए क्योंकि भगवान ने हम इसे इसे शरीर तसा नहीं केवल मुक्ति खातर पूजा सा वो तो लाखा में कादा पाओगा केवल मुक्ति के उद्देश्य से भगवान बजनिया आपके घर में जो दुख हो या शरीर में हो और कोई तकलीफ हो किसी प्रकार का भी आप एक उद्देश्य लेकर आ जाओ अरे हमने नाम बताइए आप हम नाम देंगे आपको उसका नाम का जाप करियो और फिर हम विधि बतावागे उस प्रकार आप करके देखियो आपने वो मान हो जाओ ना होने की चीज हो जाता तो आप मान लियो ये भगवान से और ना तो मत मानना यही बीमारी सतगुरु महाराज ने बताई कि मैं जब से आज जब मेरे साथ यही लगी हुई है हम यथार्थ बात कहें लोग उसको गलत समझते और जो हम जो इनको बंडान लाग जाओ उनकी सारे सच्ची मान ली झाड़े लानी आ जा दुनिया इकट्ठी हो जाओ और सत्संग में आप देख लो कितने का है तो ये शुरू से सृष्टि का प्रभाव ऐसा है मन का कि उल्टी जगह जाकर अजीब आकर अब स्वामी जी से महाराज पूछने लागे कि महाराज क्योंकि जब महाराज जी ने दर्शन दिया ना कि डोडी पड़दा दूर लगा लीना कंठ लगाए गरीब दास गुजरी बहुत बदने बदन समा मिलाए जब महाराज ने देखा कि भाई इस प्रकार उन्होंने बता दी अंदर की बात फिर उसको छाती से लगा लिया <clears throat> तो अब रामानंद जी कहते हैं ये तो शिक्षा तुम दी दीक्षा कि ये तो शिक्षा दीक्षा जो आपने मुझे मार्गदर्शन किया या तो मैंने मान ली पर ग्रीब ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोहरे गरीब दास कोमल पोरे से हमरा वदन कठोरे जब छाती का लाया तो न बोले आपका शरीर तो फूल की त्रिया है और मैं तो बद्र के साथ शरीर है कुछ यहां से भी विश्वास हुआ फिर कहते हैं कबीर साहब ने कहा ए स्वामी तुम स्वर्ग की ही छोड़ो आसारी ही ते गरीबदास तुम कारण उतरे शब्द अति ही ते ए स्वामी तेरी खातर आया मैं सतलोक ते और आप इस स्वर्ग की आस न छोड़ दो स्वर्ग में कुछ नहीं है अरे ना बच्चा अब क्या कहते हैं सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत गरीबदास गुदरी लगी जन्म जात है बीते चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोर चाह गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था स्वर्ग के अंदर चार मुक्ति चौथी मुक्ति मुझे उपलब्ध होगी और उसको मैं पाऊंगा दास <clears throat> एम रूप जा धरनी है रतन जड़े बो सोबे बे बैकुंठ को हो तन मन मेरा लोहबे कि वहां पर हेम रूप हेम कहते हैं बर्फ सफेद विष्णु का लोक बहुत सफेद है बहुत साफ है हेम रूप जहां धरणी है उस लोक की धरती सफेद है प्रेम रूप जा धरनी है रतन दड़े बहु सो होवे गरीब दास बैकुंठ को हो तन मन मेरा लो होवे रामानंद जी ने कहा उसकी आकर्षण को देख के और मैं इस प्रकार उस स्वर्ग को पाना चाहता हूं रामानंद जी कहते गरीब शंख चक्र गदा पदम मोहन मदन मुरारे गरीबदास मुरली बजय स्वर्ग लोक दरबारे शंख चक्र और पदम और संग गदा ये चार उस विष्णु भगवान के हाथा में ऐसे शोभा दे रहे हैं मैं उस दर्शन करना चाहता हूं संघ चक्र गदा पदम है मोहन मदन मुराहारे गरीबदास मुरली बज उस स्वर्ग लोक दरबारे दूधों की नदियां गए शेत वृक्ष शोभान गरीबदास मंदल मुक्ति ही स्वर्गापुर स्थान रतन जड़ाऊ मुन सहे गण गंधर्व सब देव ग्रीपदास उस धाम की कैसे छोड़ू सेव अब क्या प्रमाण दिया कि वहां के जो मनुष्य है जो देवता है उनके रतन जड़े हुए हैं सारे शरीर पर कह और इतना सुंदर शरीर हो जाता जैसे मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे को वहां ते ऐसा शरीर मिलेगा नूर का और उसके रतन जड़े होंगे ठाट से रहूंगा तो महाराज बोले कितने दिन रहोगे अब ये बच्चा अपनी कमाई के ऊपर है फिर महाराज ने बोले इसे भी गंत पीछा छुटवा दू थारा ना जन्मो और ना मरो ना स्वर्ग की हो सकता और ना नरक भोगना सतलोक में ले चालूगा आपने ने बोला कि बच्चा उस अगम की बात मुझे ज्ञान नहीं विद्वान था फिर भी इस बात को मान गया कि भी आगे का मन नहीं बेरा मैं तो यहीं तक जाना वहां कह नदियां की दूधों की नदियां बगे और श्वेत वृक्ष शोभान गरीब दास मंदल मुक्ति स्वर्ग पुरस्तान दो की नदी चले से उड़े तो यहां कहा सुन स्वामी मूल गति ही स्वर्ग लोक बैकुंठे है या से परे ना ओहोरे रामानंद जी ने बोले स्वर्ग तो ऊपर कोई चीज नहीं है स्वर्ग लोक बैकुंठे है या से प्रेरणा ओहोरे गरीब दास शास्त्र और चार वेद की दौड़ बंदी छोड़ कहते हैं के चार वेद छह शास्त्र ये सब उस स्वर्ग तक की प्राप्ति के ही साधन हमें बताते